सुनियत बिकल भरत बरबाने आरति प्रेते विनय नयसानी शोकमगन सब सभा खभारो मनहु कमल बन पर तुषारो कही अनेक विधि कथा पुराणे भरत प्रबोधो किन्ह मुन ज्ञाने बोले उचित बचन रघुनंदो दिन कर कुल कै रव बन चंदो अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए सारी सभा में विषाद छा गया मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले तात जाय जिय करहु गलाने ईसयधेन जीवगति जाने तीन काल त्रिभु वन मत मोरे पुण्यश लोक रे उरयानत तुम्भ पर लोक पर लोकपरे लोकले दोषुदेहि जन निः जलते जिन गुरु साधु सभा से हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती माता कई कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा कहूँ सुभाव सत्य शिव साखे भरत भो रह राउर राखे तात कुतरक करहु जन जाए बैर पे मन निकट बेहग मुनिगण जाहे बाधक बधिक बलोके पराहे हितयन हित पशु पक्षे मानुष तनु गुण ज्ञान निधान हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ शिव जी साक्षी हैं यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह गई रही है हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है तात तुम ही मय जान के कर्म का हयस मंजस जी के राखे उराय सत्य मोहित्यागे तनुपरि प्रेम प्रेमपन लागे तासु बचन मे मन सोचो तहिते अधिक तुम्हार सकोचो तापर गुरु मोहे आय सुदे अब से जो कह चाहूँ सोय के नाम हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ मन प्रसन्न कर सकुच तजे कहो करो सोयाज सत्य संध रघुबर बचन सुन सुखी समाज तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रख कुलश्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया